जब करते देना तो चला करो खाते हम करते भगवान खा रहे हम लोगों को अपना वो चलते रहता है अपना करते जाता सबको और उसको देते होते हुआ अपना देने वाले देते रहते हुए अपना जेल पूजा करते जाते बाकी दूल्हे को कम देते होते रहते हुए अपना कपड़ा है उसे दक्षिणा मान सकते हैं लेकिन से करना ऐसा है कि हालत नहीं होता प्रसाद दिया जा रहा है और हमने जाना है वो पूर्ण कर लो पूर्ण हो रहा होगा पूर्ण से ऐसा लक्षण उपास है धारण कर दिया व्यक्ति इसलिए उसे तो दूसरा मार्ग नहीं जानना इन्हीं कर्मों में निष्काम भावना से कर दिया जाए about what ब्रह्मचर्य श्रद्धया विद्या आत्मान अन्विष्य आदित्यम अभिजयते एक प्राणानाम आयतनम एतदमृतम अभयम एतत्परायणम एतस्मान्न पुनरावर्तन्ते इति एष निरोधस्तदेश श्लोकः अथोत्तरेण दर्शया अन्नत्र भाव रूपी प्रजापति विद्या इनके द्वारा आत्मा भविष्य अपने स्वरूप का खोज करके व्यक्ति उत्तरायण मार्ग के द्वारा आदित्य में विजयते सूर्यलोक को प्राप्त करता है एक तदवय प्राणाराम आयतनम यही प्राणों का आयतन है यही संपूर्ण प्राणों के प्राणियों में विद्यमान प्राणों का सामान्य आयतन है और अधिष्ठान है यह भय एक प्राणाराम ये सब कहने के बाद एक न पुनरावर्तन दे परायणम भी कह दिया और यही समुच्च अनुष्ठान करने वालों की परायण है परागति है कर्म अपना जो नित्य वो कर ही रहा है साथ में तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा और उपासना जो प्रजापति विद्या जो कहा जा रहा है अन्यत्र भेद स्वरूपा विद्या विद्या इस विद्या को लेकर जो कर रहा है अतः समुचित है ना ज्ञान कर्म समुचय हो गया समुचय समुच्चय होगा अतएव जो उसको यही परम गति होगा इस व्यक्ति का अह अतः कहते हैं कि हे दसवात्मनावरण इससे फिर वो लौटते नहीं है इसलिए तेज निरोध ये ठीक विपरीत निरोध बाहर जा उसके अगर रास्ता देगा नहीं तो चमक के हमारे लिए आंख चका चौंध हो जाएगा वही चला हो जाएगा और ये ट्रेन हिम्मत नहीं होगी अंधकार से हो जाएगा आंख बंद कर लेगा जीवना और वहीं से लौट जाएगा तो विद्वान होता है केवल कर्म जो होता है उपासना विषय कर्म करने वाले को अपने आप आदित्य रास्ता देता है तो प्रार्थना किया भी ईशावास में प्रार्थना मंत्र आया भी है सतस्यापीतम मुखम का जो ढकवा आप अपना चेहरा को खोली सतस्यापीतम वेतम था वहां पर स्पष्ट ही तो मैं तो आपका नित्य निरंतर जो है सत्य धर्म आया मैंने जो यहाँ पर है बड़ा सुंदर विशेषण सत्य धर्म उतारना कर रहा है ना कमी का केवल है और क्या चाहिए उपासना कर ही रहे केवल कर्म का आ रहा उपासना विशिष्ट कर्म कर रहा है इसलिए उस मार्ग से चला जाएगा इंद्रिया विद्रिया जोड़ा है ब्रह्मचर्य सब सबका इसलिए क्या क्या विरोध हो जाएगा वो केवल कर्मी है वो तो हार करके वहीं से लौट रहा है लोग से ही लौट उसका रास्ता खुदा उसको लौटना पड़ेगा इस विषय में यह मंत्र भी प्रसिद्ध है अग्रिम मंत्र प्रसिद्ध है अदौत्रेण अयन प्रजर अनुसंधानम आदित्यम उत्तरायण मार्ग के द्वारा प्रजापति का अंश होता जो प्राण है अत्ता है आदित्य है उसको प्राप्त करेगा कि दोनों अंश है ना अत्ता भी और अन्न भी दोनों अंश लगा मिला करके वो प्रजापति है प्राण रूप अत्ता जो आदित्य है तो उसको प्राप्त करेंगे केना कैसे प्राप्त करेगा वो उत्तरायण मार्ग में कैसे पहुंच जाएगा न तपसा इंद्रियजयन विशेषता ब्रह्मचर्य इंद्रिय के द्वारा और विशेषता ब्रह्मचर्य के द्वारा श्रद्धया विद्या च श्रद्धया और श्रद्धा से शास्त्र के प्रति भी है प्रजापत्या प्रजापति रूपा जो इसको ही अपना आत्म मान करके जो उपासना करे आत्मान प्रारंभ सूर्य जगत अन्विष्य विदिता आत्मा प्राण को ही सूर्य करके समझते है और सूर्य क्या है जगत तस्त इस जगत है जितने भी स्थावर जंगम है इन सब का जगत मैंने जंगम मैंने स्थावर से प्राण एव सूर्य एव इस प्रकार सत्तरवेदी सूर्य परिषद में आया है स्पष्ट ही सूर्य जगत कष्ट ये जो सूर्य है वही और जंगम सबका मूल स्वरूप है और वह सूर्य ही हमारे अंदर प्राण है और प्राण ही प्रजापति है ऐसा जो वह प्रजापति स्वरूप ही हो इस प्रकार से अभिमान पूर्वक जो उपासना करता है वह व्यक्ति अहम अस्मी हम उपासना है आदित्यम अभिजयन दे अभिप्राप्त ऐसे जानने वाला ऐसे उपासना करने वाला जो पुरुष है वही आदित्य को प्राप्त करता है आयतनम सर्व प्राणाम सामान्य आयतनम आश्रम क्योंकि ये तो प्राणाम भी बोलेंगे ना आगे में आयतन भी बोला परायण बोलेंगे इसलिए पहले हम सामान्य लूंगा प्रभाषित प्रगति उसको वहां लेंगे इसलिए यहाँ पर कहते हैं सामान्यम कह दिया आयतन आश्रय ये सकल प्राणों का सामान्य आश्रय एक अभयम अतएव बचित जिसलिए ऐसी बह रहे थे जब राशि होगा तो अभय होगा कब नष्ट होगा भरोसा नहीं ये हम लोगों के अंदर यही तो डरे है शरीर मरेगा तो जितना भी पढ़ लो अधिक से जो है भजन कर लो अधिक क्या भरोसा कब चला जाए नहीं क्यों विनाशी है ना शरीर विनाशी होने से इसकी रिश्ता कब है सबके <clears throat> अंदर और ये अपना सब है उसका चिंतन करता है इसका मरने का रहेगा फिर मरेगा तो शरीर हम तो नहीं मरेंगे इसलिए उस आत्मनिष्ठा करने वाला जो प्रजापति स्वरूप आत्मनिष्ठा भी करे वो तो भी उसके अंदर भय नहीं जाता तो उसको गारंटी हो गया है उपासना हिरण गर्भ उपासना है प्रजापति रूप हिरण गर्भ का अतः मुझे ब्रह्मलोक जरूर मिलेगा और अगर मैं मुझे ब्रह्मानुभूति होकर जीवन मुक्त होकर मुक्ति पाऊंगा ही निश्चय है उसको इसलिए उसको कोई भय नहीं है अभयम न चंद्र क्षयवृत्ति भयावत क्योंकि चंद्र के समान क्षय और वृद्धि का भय यहाँ पर नहीं है जैसे वहां होता है वैसे यहाँ नहीं एतत् परा गति विद्यावदाम कर्मिणांच ज्ञानवता केवल उपासक हो गर्भ उपासना करने वाला अथवा कर्मिणांच ज्ञानवता उपासना कर्म करने वाला केवल गर्भ उपासक अंग्र उपासक जो है वो भी ब्रह्म लोग पहुंच जाएगा और जो उपासना विचुट कर्म करने वाला है वो भी पहुंच जाता है न पुनरावर्तन थे एक बार वहां पहुंच गया तो लौटता नहीं भले ऐसा प्रारंभ कर्म उसका वहां बन भी जाए वो अगले कल में इंदिरा बनेगा यम बनेगा कुछ यमराज बन सकता है कुछ बन सकता है बन करके वायु खत्म होती विधेय मुक्ति को पाएगा ही देर सवेर लेकिन विधेय मुक्ति पक्की है उसकी जीवन मुक्ति भी पक्की है वहां लेकिन सत्यों मुक्ति पक्की नहीं है वहां पर उसका कोई भरोसा नहीं हो भी सकता है वहां जाने के बाद नहीं भी हो सकता चक्र में भी रहा सकता है कोई भरोसा नहीं गति माना गया इसलिए ब्रह्मलोक में तो इसलिए न पुनरावर्तन यथा इतरे केवल किरमणा यदि जैसे इतर जो केवल कर्मी है वो तो लौटेगा ये नहीं लौटेगा यस्मात एशो अविदुषाम निरोध क्योंकि यह जो है ना जो अविद्वान है केवल कर्मी है उसके लिए निरोध रूप है ढक्कन जबरदस्त लगा हुआ रहेगा वह ऐसा ढक्कन वो सूर्यमय स्वर्णमय ढक्कन है और स्वर्णमय ढक्कन में ऐसा प्रकाश कि देख दे आंख सब खत्म हो जाएगा इसे दूर से देखना सूर्य पर त्राटक करो साल भर नहीं लगेगा अंधे हो जाओगे हवा जाएगा नजदीक से देख वो अज्ञानी है उपासना का बल है तो वो स्वयं रास्ता छोड़ देगा और ढक्कन अपने आप हट जाएगा उपासना के बल नहीं है तो कोई नहीं सुनता आज महात्माओं को भी कोर्ट कचहरी में क्यों खड़ा होना पड़ रहा है क्योंकि कोई बल ही नहीं कोई बल नहीं न तप है न ब्रह्मचर्य कहा से बल आएगा न यह महात्मा बलहीन ही न लभ्य यह तो बलहीन से लाभ होने वाला ही नहीं तप और ब्रह्मचर्य तो बल है और रही थे तो कैसे होएगा नहीं हो सकता यहाँ तब बल है तो कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं दौड़े दौड़े आएंगे महात्मा रामलला मुलायम सिंह के गुरु बहुत सिद्ध महात्मा लेकिन उसने जो उल्टा पुल्टा करने लगा तो उन्होंने उनको दूर कर दिया मन से ही अपने आप वो खत्म हो गया बेचारा सत्ता सहित हो गया तो ऐसे थे कि एक बार इनकी जमीन जिस पर कुटिया पर रहते थे उसका नाम चढ़ाना था नगर पालिका वो चढ़ाने को तैयार नहीं तहसीलदार सब खाते ना आजकल बिना घूस पानी कौन करेगा काम और वहां गया और हड़का को रुको के आया दवाई है ये है वह आपको हटना पड़ेगा यहाँ से अच्छा ठीक है जाओ जाओ तुम जाओ फिर कुर्सी पर जाओ बोला गया तो कुर्सी पर बैठ ही नहीं पाया वहां से निकलते ही उसकी हालत ऐसी खराब होती गई वो ऑफिस तक पहुंच ही नहीं पाया सीधा अस्पताल पहुंच गया फिर वहां से कुछ ठीक ठाक घर पहुंचा तो बेटा का हालत खराब और डॉक्टरों ने स्थिति कर दिया कि डॉक्टरों ने क्या दिया कर गई ये तो गया हाथ से तो जो अन्य लोग थे उन्होंने कहा कहा तहसीलदार साहब फंस रहे हो एक बार बेटा भी जाएगा तू भी चला जाएगा कभी कुर्सी देर बैठ ही नहीं पाएगा उनका संकेत समझा नहीं दो जाओ माफी मांगो बस गया पैर पर बहुत रोया अरे तुम जाओ जाओ तुम तो बड़ा अधिकारी हो तुम क्यों आए हम तो कुछ नहीं फालतू मालतू है जबरदस्ती कब्जा कर बैठे हुए हैं हम तो गद्दार है देश के प्रति तुम तो महान वफादार हो देश का जाओ कुर्सी पर बैठो यहाँ क्यों आया बहुत माफी मांगे बहुत रोया चल चल जा भस्म देवी दी और जा चरणामृत मंगाए तुलसी डाले ले जा भेज दिया उसको जो उधर और भगत लोग ने बोला कि 24 घंटा घंटा बजाओ और कीर्तन करो राम दरबार में पहुंच गया बालक दरबार से वापस आना है ऐसा तो फिर 24 घंटा कीर्तन और 24 घंटा घंटा बजते रहा मंदिर छोटी सी मंदिर सा बना हुआ था छोटी सी थी घंटी भी छोटी नहीं पहाड़ों में छोटी मंदिर और तीन तीन तीन दिन बजते रहे और जो है बिना कीर्तन करते रहे तो अगर बच्चे का जब चिंता होकर आवाज आया खबर आया उसके बाद उन्होंने कीर्तन बंद किया और बोल गया प्रसाद पहुंचा पहले बालक को बोला कि प्रसाद पहुंचाया ऐसे से महात्मा किसकी हिम्मत कोर्ट कचरे खड़े क्यों होंगे महात्मा क्या जरूरत बड़ा बड़ा अधिकारी कार्य पड़ा रहेगा लेकिन तप नहीं ब्रह्मचर्य नहीं तो क्या होगा दौड़ो कोर्ट कचहरी में भागते रहो घूस खिला करके काम कराते रहो ये हालत है तो ये मेन मुख्य है इसलिए कहते हैं देखो उसमें क्या है आदि निरुद्धा क्योंकि उसके उपासना का बल नहीं होने से आदित्य से वो निरुद्ध हो अविद्वांस नहीं दे समुद्र आदित्यम महात्मा प्राणम अभिप्राप्त बंदी ये अविद्वान है इसलिए ये लोग जो है ना समस्त जो आदित्य है उसको आत्म प्राण प्राण से अभिन्न रूप उन्होंने उपासना नहीं किया है इसलिए आदित्य रूपी स्वरूप प्राण को प्राप्त नहीं कर सकते सही तरह कारात्मा विदुषा निरोध इसलिए कारात्म स्वरूपता जो समस्त है यही अविद्वानों के लिए निरोध रूप ही है ये श्लोको मंत्र इसी विषय में यह मंत्र भी स्पष्ट है सुप्रसिद्ध है पंचपादम पितरम द्वादशाक्रम दिव आहो परे अर्धे पुरीषिणम अथे में अन्य परे विचक्षणम सप्त चक्रे चढ़राहुरर्पितमिति देखो कुछ लोगों का मत है आहु पर्यार्थे पुरीशिनम पंचपादम पितरम द्वादशाकृतिम कुशलों का कह रहा है पांच ऋतु वाला मैंने छठा ऋतु को इसमें एकीकृत करके बोल रहे हैं हेमंत और शिशु ऋतु को एक करके पंच ऋतु रूपये पैर मान लिया इस साल जो चल रहा है समझ सर उसके पांच पैर है पांच ऋतु छह ऋतु है शिशु और हेमंत को एक कर दिया और पांच ऋतु पैर कह दिया द्वादशाकृति बारह मास ही इसका द्वादश आकार है द्वादश आकार को प्राप्त करता हुआ पांच पैरों से ये चलने फिरने वाला हम सबका पिता है पितरम गालिया पांच पैरों वाला मानते काल के रहस्य को जानने वाले आयु है परिताप हो विद्वान लोगों का कहना है मैंने कालरूपी प्रजापति काल मैंने एक काल नहीं समझना जो हम लोगों के काल की गणना हो रहा है कालरूपी प्रजापति जो अन्न और अत्ता बना हुआ है रई और प्राण बना हुआ है आदित्य और चंद्र विद्वंत को प्राप्त हुआ मिथुन को प्राप्त हुआ है वह प्रजापति काल के उपासक तो काल के वित्ता वो लोगों का कहना है यह काल रूपी संवत्सरात्मक जो प्रजापति है संवत्सर वही प्रजापति कहा था ना वह संवत्सर रूपी जो प्रजापति है वह तो पंच पैरों के द्वारा भ्रमण करता है और बारह आकृतियों को धारण कर लेता है बारह मास रूपी आकृतियों को धारण करने वाला है और वह कैसा है पूरी वह जलमय जल वाला है और सबका पिता होता वह जल रूप जल वाला भी है और कहा रहता है दिवा हो दिवलोक से भी परे दिवलोक से भी ऊपर दिवलोक से भी ऊपर स्वर्गलोक में स्थित रहता है ऐसा लोग विद्वान लोग बताते हैं तो अन्य और ये जो अन्य जो काल के पुरुष लोग हैं उसी चीज को दूसरे शब्दों में कहते उनका क्या कहना है सप्त चक्रे कहते सप्त चक्र सात चक्र वाला है वो चार चक्र से घोड़े भाष कर लेंगे सात घोड़ों वाला रथ पर बैठ करके सूर्य चलता है सात घोड़े कौन है ये सात दिन इस संसार में आठवां दिन तो होता ही आठवां दिन है क्या कोई आठवां दिन न मरा न कोई आठवां दिन जन्म लिया क्योंकि संसार में आठवां दिन होता ही नहीं होते सात ही दिन <coughs> आठ दिन वही आएगा ना व्यवहार से गिनो कहीं से भी गिनो सात गिन लोगे उसके बाद कोई नया नाम आएगा कि वही है तो पहले वाला लौट गए पहले वाले में आओगे इसलिए सात दिन रूपी चक्र के ऊपर चलने वाला या सात घोड़े रूपी धारण करने वाला ऐसा निरंतर चलने वाला वह सूर्य है और एक ऐसा है विचक्षणम शरण आहो हो ऐसे कहते भाई शरण भी बोल दिया उसको छह ऋतु भी बोल अब इन्होंने ये दूसरे विद्वान लोग छह ऋतु अलग करके बोल रहे छह ऋतु है वह इस चक्र में समर्पित है अरहन अरायता नाभि में समर्पित होती है सात दिनों रूपी नाभि के ऊपर छह ऋतु रूपी चक्र जो है आपके हराए समर्पित है इस प्रकार से काल चक्र रूपी सूर्य और प्रजापति रूपेणा उपासना करना है आहो अर्विदम कह दिया इस जगत को विशिष्ट बतलाते हैं विचक्षणम ऐसा भी बताते हैं और अन्य इमे अन्य विदुषा ये जो अन्य लोग है आहू यहाँ पर भी आया इसलिए अन्य विद्वान लोग कहते हैं दो मत है कहने का मतलब कुछ लोग कुछ लोग पंचपाद द्वाशाकृति पितर नाम से करते हैं पुरुषिनम पितरम ऐसा करके दूसरे लोग सप्त चक्र है शरारा विचक्षण इस उपाधि से करते स्वरूप और गुण दोनों के ना उपासना होगी नहीं स्वरूप क्या है पंचपात गाशाकृति गुण क्या है पुरुषिनम पितरा इसी प्रकार से दूसरे लोग विद्वानों के हिसाब से स्वरूप है सप्त चक्र शरण और उसका गुण क्या है विचक्षण अर्पितम वहां भी दो शब्द यहां दो शब्द दिया आकृति भी दो वहां दो यहाँ लिया अलग प्रकार से करते हैं चीज एक है और उसके दृष्टि आपके उसका जो उपाधि का स्वरूप और उपाधि का गुण को अलग अलग लिया भाष्यकार पंचपादम पंचरिदवा पादा इव अस्य पंचरिदवा पादा इव अस्य पैर के समान वह पैर नहीं होती वास्तव में पैर के समान पैर समझो संवत्सरात्म किसका संवत्सरात्मा आदित्य का प्रजापति का तैर असौपादरिव ऋतु ही आवर्त थे माना इन ऋतुआत्मक पैरों के द्वारा वह सूर्य निरंतर आवृत्ति को प्राप्त करते रहता है हेमंत शिशिर एकीकृत यंग कल्पना छह ऋतु आपने पांच कैसे कह दिया कहते भाई हेमंत और शिशिर दोनों को एकीकरण करके कह दिया गया है इधर सर्वस्व जनित्व पितृत्व तस् सभी का जनिता होने के कारण से उसके पितृत्व रूप गुण को माना गया तम द्वादशा कृतम द्वादश मास आकरण द्वादश मास ही उसकी आकृतियां है अथवा जो है उसके जो है आकरण है सब उत्पादक कारण ऐसे भी मान लो इसलिए इसको पिता कहते विभाग किया गया अवयवीकरणम आकरणम ने अवयवीकरणम अस्यो एक अपने सीधे हक करते अवयवो कह दिया अतः इन अवयवों के द्वारा अवयवीकरण कर दिया गया है अस्य किसका उसी आदित्य रूपी समसरात्म प्रजापति का द्वाश मासी ही तुम द्वाश कृतिम कार्य का मतलब द्वादश मासों के द्वारा द्वादश आकार को या द्वादश अवयवों के द्वारा अवैव रूप को प्राप्त हुआ है कहा रहता है विवाह द्यूलोक पर ऊर्ध्वे पंचमी है ना इसे द्यूलोक से परे ऊर्ध दिशा में स्थाने तृतीय श्याम दिवी प्रधान प्रमाण मिलेगा वहां पर इसका विस्तार समझाया है तो तृतीय श्याम दिवी वहां कल लाया भूलोक अंतरिक्ष लोक इन दोनों की अपेक्षा तीसरा उसका नाम दिवी वही दिवलोक में रहता है कदर पेड़ के ऊपर बैठा है पेड़ के ऊपर है पक्षी है ना पेड़ पर ही तो बैठा है सबसे ऊपर वाली डाली में बैठा हुआ है तो क्या हम थे पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है तो है तो पेड़ ही में वो डाली में ही तो है कि आकाश में आकाश में तो कहते पेड़ के ऊपर आकाश में देखो उधर ऐसा बोलते पेड़ के ऊपर आकाश में नहीं है पेड़ के ऊपर है का मतलब आप पेड़ के सर्वोच्च सर्वोच्च डाली के ऊपर बैठा हुआ है अंतिम डाली पर बैठा हुआ इसी प्रकार लोगों का जो अंतिम लोक में है वो कहने के लोक के ऊपर कह दिया दीव के ऊपर दीव के ऊपर का मतलब दीव में ही है ये इसके अर्थ इसलिए कहते पूरी त्रिदेश्याम देवी करके वहां का दिखाया इसके ऊपर एक ब्रह्मसूत्र में भी है विचार चौथा लोक है क्या तृतीय तो श्याम का भी तीसरे से ऊपर तो वहां पर रस करते नहीं यहाँ पंचमी दिवा चाहे वहां सप्तमी का तात्पर्य है वह अधिष्ठान है वहां क्या लूंगा जैसे वहां कटे आस्ते कटे आस्ते औपश्लेषिक संसर्ग है वहां कट पर बैठा है और कट के ऊपर बैठा है इसका मतलब क्या कट से ऊपर हवा में आएंगे हवा में तो है ना कटक्ष संबद्ध है वो उसी प्रकार दीव से संबद्ध है दीव से परे का तात्पर्य अवश्य शब्द में मान लेंगे या पंचमी का विश्लेष है विश्लेष में उसी प्रकार का विश्लेष है इत्यादि में आप बना लेते हैं उसी प्रकार के हम समझो इसलिए कहते हैं जो नहीं है पुरुष पुरुषवंतम उदकवंतम बाहू काल विदा पुरुषनम मैंने उदक वाला है कि निरुक्तकार पुरुष शब्द को उदक के पर्यावाचयों में गिनाया है वेदार्थ बोध का निरुक्ति निरुक्त है ना उसमें तो इसलिए कहते क्यों वो तो क्यों क्यों क्योंकि आप जो कर्म करते हैं और संकल्प जल छोड़ते हैं वही आपका एक कर फलस्वरूप वहां पर आदित्य धारण करता है अपने आप जो आहुति देते वो वहां में स्थापित होता है के परिषद में आएगा और मधु विद्या में बृदानक में भी आएगा कि आपके जो यजुर्वेदीय कर्म है वो जो है अमुक रंग वाला होकर के सूर्य के पूर्व दिशा में बैठ गया ऋग्वेद का कर्म अमुक दिशा में गया इस प्रकार से पूरा सूर्य आपके वैदिक कर्मों से संपादन हो गया समझ करें इसलिए यहाँ पर कह दिया मय है वो कि जल के बिना कोई कर्म नहीं कि संकल्प होता ही है जल से भले किसी जन बहुत दूध भी रहा दूध ही दूध रहा इस भारत देश में फिर दूध से संकल्प ही नहीं लिखा नहीं जल से ही करना पड़ेगा क्या किसी जल से करो करना तो जल से ही संकल्प इसलिए जल मैं है बंधम हो काल विदा मैंने काल रूप प्रजापति के वेत्ता लोग ऐसा कहा करते हैं कालात्म तो प्रजापति उपास कहा अगर तमेव अन्य इमम ऊपरे तमेव अन्य उसी परमात्मा रूपी प्रजापति रूपी आदित्य को अन्य अन्य विद्वान लोग क्या कहते हैं इमम तमेव इमम ऐसे जोड़ देना वह यह जो आदित्य रूपी प्रजापति को ही अन्य विद्वान लोग क्या कहते हैं परे काल विदो विचक्षणम निपुणम सर्वज्ञम वो गुण बदल दिया उन्होंने पितरम कहा और इन्होंने निपुणम सर्वज्ञम ऐसी भावना से हिरण्य गर्भ की उपासना करने की सप्त चक्र है ये स्वरूप है सप्ताह रूपेण सप्ताह रूपेण चक्र सततम गतिमति सप्त हय रूप से वो निरंतर चलता है सततम गतिमति निरंतर चल रहा है चक्रे बना दिया यानी लुगंत में यह वैरिक रूप है इसलिए सततम गतिमति ऐसे कहते दिया इमम कालात्मनी शररे गतिमति कौन है वो कालात्मनी कालात्म स्वर प्रजापति सूर्य ही है शररे षड ऋतु मत्या हो उसको षड ऋतुमती भी कहते हैं सर्वमिदम जगत कथयंती केवल विद्वान ही नहीं सर्वमिदम जगत सारी दुनिया ही ये बात कहती है छठ ऋतुत्व के सूर्य का गमन हो रहा है अर्पितम अराय रतनाभ निविष्टम विधि जैसे अराए रथ के नाभि में निविष्ट हुआ करती हैं उसी प्रकार से यह सूर्य इन ऋतु रूपी अराओं के माध्यम से स्वनाभि में उपस्थित है उपस्थित है यदि पंचबाद और आकृति चाहे पहले वाले ने जो आकृति बताया क्या पंचबाद आकृति यदि वह सप्त चक्र षडर सप्त कहा है वहां पर यदि वह पितरम पुरुषरम और यहाँ पर विचक्षण मार पिता चाहे जो भी हो गुण और स्वरूप है वो कौन सर्वता संवत्सर कालात्मा प्रजापति चंद्र लक्षणों भी जगत कारण सर्वथा भी वो क्या है वो संवत्सरी है काल रूपा प्रजापति है चंद्र है तो रूप है वास्तव चंद्र आदित्य लक्षणों भी चंद्रादित्य उभयात्म होने के बावजूद भी आदित्य रूपेण विशेष रूपेण काल रूपेण जगत कारणम भवती जगत का विशेष कारण जो बनता है वह परमात्मा एक ही है इस प्रकार समझ तो प्रजापति हो गया देखो कैसे सिकुड़ते जा रहा है पहले क्या था सारा जगत प्रजापति था च प्राणच चंद्रायत्य अन्न अत्री रूपेण सब कुछ अन्न ही है या सब कुछ अपा ही है जैसी भावना से उपासना करो वो सर्वोत्कृष्ट उपासना हो गई नहीं वो कठिन है सबको अन्न ही मान लो सबको अत्ता ही मान लो अरे भाई कैसा चलेगा काम चल रहा है लेकिन समझता नहीं अब आप रोटी को थोड़े खाते रोटी आपको खा रहे आपको नहीं समझ में आती लेकिन आप समझ रहे मैं रोटी खा रहा हूं नहीं आप रोटी को नहीं खाते खाएंगे कभी आपकी जीवन में ये हम रोटी खाते कैसे कह रहे हैं है? आप रोटी नहीं खा रहे वास्तव में जो है रोटी आपको खा रही है दिन प्रतिदिन दिन मौत की ओर ले जा रही है कौन ये रोटी ले जा रही है जितना जितना आप खाते हैं उसी हिसाब से अंदर विकृतियां होती हैं जिसके जैसे जैसे विकृतियां बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे आयु क्षीण होते जाता है तो मौत की ओर कौन ले जा रहा है आपको तो आपको रोटी खाया कि रोटी ना को आपने खाया अब पक्का हो गए ना <laughs> रोटी हमको खा रहा है और हम सोच रहे हम बड़े उस्ताद है, है? बड़ा खाने पीने मस्त है हम मस्ती क्या है सारा मस्ती को उतार के दिखा देता है यही रोटी इसलिए संयम हर चीज में संयम से खाओ पियो ताकि जो है यहाँ आपका जल्दी रखा जाए या पति किसी चीज की कर ले तो वो आपको जल्दी खा जाएगा ना क्योंकि रोटी आपको खा रहा है आप थोड़ी उसको खाते हैं लेकिन आप समझ रहे मैं खा रहा हूँ खूब डट के उल्टा पुल्टा खा लेते हो नतीजा क्या होता है वो अलग जल्दी से जल्दी आपको खाना चालू कर जाए ऐसे ही खाना लग जाता है कि जल्दी घुन पड़ गया जल्दी से खराब हो जाता है तो इसी प्रकार यहां पर भी है वास्तव में वो कहानी है सारे अन्न वास्तव में अत्ता है और जो अत्ता का अस्तित्व उसके अंदर है ही और अन्न वास्तव में वो भी अत्ता है यह जीवो जीव से जीवन के आधार पर सब कुछ अन्न ही है एक दूसरे को खाया जा रहा है से उपासना करना ऐसे सोच समझ कर दृष्टि करके उपासना में बड़ा कठिन काम होने से उसको किसी करके संवत्सरो वही प्रजावती वो भी दिमाग में दिखता नहीं अनुभव में नहीं आता समझ नहीं आता भाई समुद्र प्रजापति कैसे उपासना करूं ये दिन रात ये जो है छह ऋतु यही पैर है द्वादश मास ये सब कहा करती इन गुणों से कैसे उसकी उपासना करना ध्यान में बैठते हैं तो कुछ नहीं दिखता है समझ में नहीं आता है क्या है क्या पंचपाद है क्या द्वाशा करती है क्या षडारा है कुछ समझ में नहीं आता तो और भी संक्षेप करते मासो ही प्रजापति ही कस्य कृष्ण ही शुक्ल प्राण तस्मादेतर शुक्ल इष्टम कुरंती इधर इधर अस्मिन जैसे जैसे बुद्धि आ रहा बेचारे में यहाँ करें और संक्षेप में जाना पड़ेगा ये भी नहीं हो पाएगा उससे चलो दिन रात में आ जाओ दिन रात तो अनुभव में आ रहा है वो बाद में कहीं मासो वही प्रजापति ये महीना ही प्रजापति मान ये महीने का दो भाग है तो कृष्ण पक्ष उसे कृष्ण पक्ष भाग है वो क्या है वही रही है रही मैंने वही चंद्रमा वही अन्न है और दूसरा कौन है शुक्ल पक्ष यही प्राण है शुक्ल प्राण हाँ, प्राण मने आदित्य अवई अत्ता कृष्ण पक्ष में दृष्टि करना है अन्न का रहित्व का चंद्रत्व का दृष्टि करना है और शुक्ल पक्ष में प्राण का अतृत्व का आदित्य कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में इस प्रकार से दृष्टि करते ये दोनों अवयव से युक्त तो एक मास रूपी प्रजापति है इसलिए मास ही प्रजापति है ऐसे उपासना ऋष इसी कारण से ऋषियों ने क्या किया ये वास्तव में कृष्ण भी प्रजापति है ना शुक्ल पक्ष भी प्रजापति है कृष्ण पक्ष उसका अवैध तो प्रजापति ही है इधर कृष्ण में का पक्ष में जो प्रजापति दृष्टि करता है उसके लिए कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष ही है जो ऐसा नहीं जानता उसके लिए शुक्ल पक्ष भी कृष्ण पक्ष ही है इसलिए उपासक चाहे कृष्ण पक्ष में चाहे शुक्ल पक्ष में कभी भी यज्ञ हवन आहुति करें उसके लिए क्या है वो सफल कार्य है और विद्वान इस मास रूपी प्रजापति के कृष्ण और शुक्ल उभय में प्रजापतित्व की उपासना करने के सक्षम जो नहीं है वह शुक्ल पक्ष में भले ही कर रहा होगा शुभ मुहूर्त आदि में भले ही कर रहा होगा तो भी वह कृष्ण पक्ष में कर रहा है अतः उसके लिए फल प्राप्ति नहीं हो सकती इसलिए एक ऋषि शुक्ल इष्टम कुरंती शुक्ल पक्ष में ही करते हैं और पूरा महीना ही उनके लिए शुक्ल पक्ष है क्योंकि पूर्ण अतृप्तावच्छिन्न प्रजापति की दृष्टि पूरे महीने में कर रहे हैं मैंने भी क्या करा प्रजा मास प्रजापति में अतृत्व मानो सब कुछ अत्ता ही है तो कृष्ण भी अतः नहीं होगा जब कृष्ण पक्ष भी अत्ता है तो वो भी भोक्ता बन जाएगा सब फल प्राप्त करने वाला हो जाएगा और ऐसा जो नहीं करेगा इतरे इतरस्मिन इतर मैंने जो अविद्वान है जो महावीर प्रजापति तुम्हें अतृत्व की उपासना करना नहीं जानता है उसके लिए क्या होगा सब रूप हो गया वो अद्य हो गया स्वयं खाया जाएगा सबसे अर्थात कर्म फल का उपभोग करने में सक्षम नहीं हो सकता जिसमें निरम सरम विश्वम सैव प्रजापति जिसमें संपूर्ण विश्व ही आश्रित है वह प्रजापति ही जिसको पहले संवत्सराज्य संवत्सर नाम से उपासना किया कर कथन किया अब उस अवयवी माँ से कृष्ण परिसमाप्त वह अपना अवय रूपा माँ से भी पूर्ण रूपेण प्रजापतित्व की दृष्टि कर सकते हैं किसरा परिसरापति जैसे क्या है हाथ में आपसे पूछा जाए तो गंगा जले अरे भाई गंगा जल देश तो तेरे हाथ में इतनी सारी गंगा जल गंगा जल अगाध है भाई आपके हाथ पर में आ जाएगा क्या है गोमुख से निकल गया गंगा सागर तक लंबी चौड़ी गंगा हाँ, आप कर मेरे हाथ में क्या गंगा जी अरे गंगा जी तेरे हाथ में कैसे आ गई नहीं आ सकती लेकिन फिर भी आप जो संकल्प में में जल लिए हुए हैं या आचमन करने के लिए जल लेते हैं कभी क्या है गंगा जी गंगा जी इतनी विशाल चीज को आपने एक छोटी सी दस बूंद के अंदर परिकल्पना कर लिया उस महान अवयवी को किंचित अवयवों में आप हित दृष्टि से आप कहते गंगा जी उसी प्रकार समझ जगत जिस प्रजापति में उस विशाल प्रजापति को पहले संवत्सर में फिर संवत्सर को चुल्ली भर के पानी में जैसे कर दे तो गंगा जी उसी प्रकार से आपने आप मास प्रजापति कह दिया है इसलिए कहा कृष्ण महासो में प्रजापत है तो लक्षण मिथुनात्मक तस्य मासात्मन प्रजापदेर एको बाघ कृष्ण पक्षो इसलिए वह जो मास भी प्रजापति ने तो रक्षण तो रखना हमने अन्न त्रिभाव रही प्राण भाव चंद्र सूर्य भाव जो बताया गया था उसी वही स्वरूप वाले जो प्रजापति है मिथुनात्मक स्पष्ट कर दिया जो मिथुनात्मक प्रजापति कहा गया तस्य महासात्मक प्रजापति एको भाग तारस महासात्म जो प्रजापति है उसका एक भाग क्या है कृष्ण पक्ष है वही रही है वही अन्न है वही चंद्रमा है अप्रोभागा ये दूसरा भाग क्या है शुक्ल वही शुक्ल पक्ष वही प्राण है वही आदित्य है वही अत्ता है वही अग्नि यस्मात जिसने ऐसा है शुक्ल आत्मा प्राणम सर्वमेव पश्यंती जो विद्वान शुक्ल पक्षात्मक प्राण अत्रिभाव से प्रजापति को संपूर्ण में देख लेते हैं लेकिन शुभक्ष पक्ष दोनों ने देख लिया प्राण भाव से अत्रिभाव से सूर्य भाव से अग्निभाव से ऐसे करने वाले के लिए सबको शुक्ल पक्ष चाहिए कृष्ण पक्ष है ही नहीं उसके लिए खत्म क्यों कृष्ण को भी शुक्ल दृष्टि आपका देख लिया ऐसे अन्न को भी अतिरिष्ट देखना आपका वर्णन आया या अत्र को अनुष्ट भी आप देख सकते हो है ना अब यहाँ पर क्या कर दिया इसने जो विद्वान कृष्ण को भी शुक्ल दृष्टिया प्राण दृष्टिया आदि दृष्टिया अग्नि दृष्टिया उपासना कर लेता है वो तस्मात प्राणदर्शी नहीं इसलिए वो प्राप्त प्रजापति का उपासक है वो अतः कृष्ण पक्षी अपनी इष्टम यागम कुरंत भले ही आपके पंचांग के हिसाब किताब से और चंद्रमा को देखने से लगता है कृष्ण पक्ष है और उस कृष्ण पक्ष में यजन कर रहा है याग कर रहा है फिर भी शुक्ल पक्ष है वो कुरंती फिर उसकी दृष्टि में हो कृष्ण पक्ष भी शुक्ल पक्ष ही है प्राणात्म प्रजापति दृष्टि कर दिया है इसलिए वो तो वास्तव में शुक्ल पक्ष में ही कर रहा है प्राण व्यतिरेकेण कृष्ण पक्ष न दृश्य प्राण से भिन्न कृष्ण पक्ष करके उनको अलग दिखता है बात जिसलिए ऐसा है इतने तो और जो दूसरे जो अज्ञानी अविद्वान अनुपासक है उनको लिए क्या है हम्म, प्राणम न पश्यन्दे इतने तो प्राणम न जो दूसरे हैं वे प्राणात्मक प्रजापति को कृष्ण शुक्ल उभय में देखना नहीं जानते अर्थात ऐसी उपासना वो नहीं कर रहे हैं इसीलिए आदर्श लक्षण कृष्णास्तन में पश्यन्ते उनके लिए शुक्ल पक्ष भी कृष्ण पक्ष ही है आदर्शनात्मक जो कृष्ण पक्ष है जैसा उनके लिए वह शुक्ल पक्ष भी कृष्ण पक्ष के बराबर है इसलिए कहना यज्ञों में एक उपासक का होना जरूरी है विद्यावान पुरुष की जरूरी है यही तो से चाकारण का सारी कहानी है चांद परिषद में वो सब कर्मकांड तो हो रहा था कर्मकांड का अपना फल भी मिलेगा लेकिन केवल कर्म हो गया ना तो पुनरावृत्ति वाला फल देने वाला है और उसे फिर चाकरायण उसे प्रत्येक देवता अगर हर चीज को जानते थे हर क्रियाकलाप की रिजल्ट जानते उन्होंने कहा यदि हम हम आने के बाद भी तुम हमारे रहते हुए बिना उस विद्या को प्राप्त कर ऐसे ही तुम कर्म कांड करो खोपड़ी करके गिर जाएगा डरा दिया डर गए अरे भाई तो बड़ा विद्वान ज्ञानी पुरुष जो कहेगा वैसे हो जाएगा खतरा है तो चुप हो गया तो साफ चुप हो जाते हैं बेचारे फिर और राजा जो है हाथ चौट गया था हम तो आपको बहुत ढूंढे नहीं मिले यहाँ के गाँव में अकाल पड़ गया तो आप कहाँ चले गए मालूम नहीं था तो हम मजबूरी में दूसरों को वर्ण कर लिया हो ये आप कहेंगे तो हम आपको भी वर्ण कर लेते कहते ऐसे कैसे होगा भाई ये अन्याय क्योंकि सारा पोस्ट अब नियुक्त हो चुका है कोई स्त्री स्थान तो है नहीं कि सभी ऋतुओं का वर्ण हो चुका है अब हमको लेने के चक्र किसको कार्य करना पड़ेगा गलती ऐसा करो जो सबको जितनी दक्षिणा दो उतना दक्षिणा मुझे दे देना बाकी ये लोग अपना काम करने दो मैं उनको विद्या दे दूंगा और स्वयं बाहर बैठ करके दोष निवारण करते रहूंगा अच्छा, ठीक है तो बराबर दक्षिणा भी मिलेगी माल उसके वही चाहिए था वो भी मिल गया कर्म भी उत्कृष्ट कर्म बन गया उपासना से विशिष्ट हो गया इसलिए यहाँ इनका तात्पर्य है कि ये नहीं वो कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में कर्म कृष्ण पक्षी हो गया उसके लिए तात्पर्य है वो उपासना अभी केवल कर्म होने से उसको पुनरावृत्ति रूप फल मिलेगा यानी फल बिल्कुल नहीं मिलेगा ऐसा भी अर्थ नहीं है फल मिलेगा इन पुनरावृत्ति रूप फल मिलेगा और कृष्ण पक्ष करने पर भी शुक्ल पक्ष ने किया उत्कृष्ट फल मिलेगा तात्पर्य वो उपासना विशिष्ट कर्म करने से और पुनरावृत्ति रूप फल उसको मिलेगा ये अंतर है इसलिए कहते हैं इतना इतस्मिन कृष्ण पक्ष ये कुरंती शुक्ल कुरंतो शुक्ल पक्ष में करता हुआ होने पर भी वह कृष्ण पक्ष में ये कर रहे हैं समझो